एक सौ सात दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अहमदाबाद केंद्र है हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है दस बजकर बारह मिनट मेरा नाम है गगन मुदगल कार्यक्रम का नाम है गीत संगीत आइए अब न्यूक्लिया का एक मधुर गाना सुनते हैं मधुर गाना सुन मधुर गाना सुन मधुर गाना सुन मधुर गाना सुन मधुर गाना सुन मधुर गाना सुन मधुर मधुर गाना सुन न्यूक्लियर का न्यूक्लियर धमाका है ये धमाका है ये न्यूक्लियर धमाका है ये धमाका है ये शेर का अबलाफा है ये अलाफा है ये शेर का अबलाफा है ये न्यूक्लियर धमाका है गलियों का मैं राजा कभी गलियों में तू आजा सब शूटर मेरे जंगली छोटे शक्ल पे मचाना अगर थोड़ा भी तू नकली मेरे बगल में इधर बोल गोंदर है गर्मी तो भर कर है राइम मेरा शेर का है लाफा वाली वाली फ्लो हर शब्द है धमाका के वाले सुन के बोले भाई तू है प्रॉपर गली गैंग बोले तो बॉयज फ्रॉम द नाका बोले तो बॉयज फ्रॉम द नाका शेर का ये लाफा बोले न्यूक्लियर धमाका गली गैंग बोले तो बॉयज फ्रॉम द नाका बोले शेर का ये लाफा A nuclear dhamaka. Nuclear. Boys from the Naka, Gully gang, बोले तो boys from the Naka, Gully gang, बोले तो boys from the Naka, Gully gang, बोले तो boys from the Naka, शेर का ये लाफा, न्यूक्लियर धमाका. मैं राजा हूँ अब जंगल का. अंदर से ये चमड़ी है, भारपेंद्र की है पंगड़ी है, मुश्किल तो अपना संगड़ी है, दुश्मन तो अपना कमड़ी है, पूरी गली मेरी अतरंगी है, हर नाके पे एक संगी है, हर शाके पे एक कंगड़ी है, सूरज से पहले आके मेरी गली क्यों की गली से पंगा लिया ये गलती तूने क्यों की हाँ तू बेटा असली जैसे बॉलीवुड की मूवी आजा मेरे गली अगर फोटो चाहिए जू की आजा हर लाइंस मेरे रामपुरी से धार है लाइंस तेरे स्ट्रगल बता कहाँ तेरे स्कार्स है सही में करते हसल अब तो बास के भी चार्ज है स्लम्स की ये सांस और गलियों की आवाज है बोले तो वॉइस फ्रॉम द नाका नाका शेर ななかなあ